और अगर शैतान की तरफ से आपको कोई उकसाहट उभार दे तो आप अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करें यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है